उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते